चुनाचे कहने लगे कि क्या हम अपने ही में से एक तन्हा आदमी के पीछे चल पड़े ऐसा करेंगे तो यकीनन हम बड़ी गुमराही और दीवानगी में जा पड़ेंगे